तद अनुरूप ही जो आज तक सारे उत्पन्न हो रहे हैं सभी शरीरिया सब शरीर से यवान मिल करके तालमेल बिठाने के लिए या इसका यावती रवा यथावा फिर तम प्रकृतम नचिके के साथ धाधितम वही प्रकृत है ये मत समझो बाहर की अग्नि प्रकृत है बाहर की अग्नि के बारे में कर्म कारण को विस्तार से बता चुके हैं बाहर की चयन को वही वहां बताया जा चुका है यहाँ बोलने की क्या जरूरत उसको इसलिए प्रकृत अग्नि उपासना संबंधी है और प्रथम शरीर संबंधी है विराट रूपे न सभी के हृदय के अंदर विराजमान बाह्य जगत संबंधी विद्या रूपे न वही नची के दर के द्वारा पूछा हुआ है प्राप्त कहा चेतव्या स्वरूप चिर व्यास स्वरूप का मतलब क्या हिमाद्रुत क्षण होता है द्रोण चित रथ चित ऐसे कहा जाता छेद चित अलग अलग नाम द्रोणाकार में चयन करते द्रोण चित रथ के चक्र के आधार में चयन किया गया है उसको तो मतलब चक्र चित कर दिया शेर पक्षी के आकार में चयन कर दिया उसको शेर चित कर दिया अनेकों प्रकार से ये जो है कात्यायन श्रवण सूत्र को पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के चयन की पद्धतियों का विचार किया हुआ है कर्म कांड के प्रकरणों में जो वेद में है ही है जिसका विस्तार रूप से समझाने का और जहाँ कहीं थोड़ा कमी हो उसको पूरा करने के लिए ही कात्यायनी श्रवण उसको आप देखेंगे पता चलेगा नीचे दिया गया चयन प्रकरण निश्चित ब्राह्मण ग्रंथ था और कात्यायनादि महर्षि शौच सूत्रादि इन ग्रंथों से इस स्वरूपेण किस प्रकार का होता है मैंने स्वरूप से मतलब आकार पांच चीज और यावतीरवा मैंने संख्या संख्या को लेकर यावती कर यथावा प्रकार जिस प्रकार से अग्नि का चिन्ह होता है सर्वम में तत्व तो सारी बात कर दी सच अभी नचिकेता तन नृत्य न उत्तम और वो नचिकेता भी साधारण नहीं था उसने क्या किया वो तो मृत्यु न उत्तम यथावत सत्य न जैसा उन्होंने समझाया उसको ठीक उसी प्रकार से न मैंने अनिश्चय निश्चय पूर्वक सत्य प्रत्यवत प्रत्येन अवदत है या प्रत्यवदत प्रत्यवदत की व्याख्या है समझो प्रत्येन अवदत अथवा सीधा प्रत्यवदत लिखो तो ये, ये कार्य एक्स्ट्रा हो जाएगा जी प्रत्यवदत प्रत्युच्चारित प्रत्युच्चारण कर सुना दिया अधास्य प्रत्युच्चारण तुष्ट अब उसने चिकित्सा की प्रतिचारण की तरह संतुष्ट हुआ वह समृत्यु हो पुनरेवा अमृत अपने तरफ से कहने लगा वितरय के ना अन्य वरम यदि यमराज जी का मन में है कि मैं वर तीन से वर से अतिरिक्त चौथा वर सूची दे प्रथम का गिफ्ट देना बोलते हैं गिफ्ट देना ऐसा प्रसन्न हो जाता है अपने तरफ से बच्चे कुछ दे देते उसी प्रकार यहाँ पर भी दे रहे तम प्रीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवे ददामि भूय तवैव नाम्ना भविताय कांचे माम अनेक रूपांगिहान महात्मा इंद्राजी जो है महात्मा महन चतो आत्मा के महात्मा आत्मा से अर्थ लेना है जिसकी बुद्धि विशद महान अक्षुद्ध महात्मा उसे कहते जो आप क्षुद्र बुद्धि वाला जो क्षुद्र बुद्धि वाला है महात्मा ने कृपण दरिद्र इसलिए आप लोगों को महात्मा कह जाते हैं क्योंकि आप सब अक्षुद्र बुद्धि वाले त्याग वैराग्य संपन्न कोई भी कुछ भी आपसे मांगे हाँ, हाँ ले जाओ कुछ किसी के प्रति वह माया ममता नहीं है ऐसे जो है पुरुषों को महात्मा कहा जाता है आप क्षुद्र बुद्धि भाषा कहेंगे अक्षुद्र बुद्धि स महात्मा तम नचिकेत संप्रति अप्रवी प्रियमाण सन प्रसन्न होकर के कहा परम तवा यह यह अस्मिन काले तवा हम अद्य अद्य भी है यह भी है अस्मिन काले अस्मिन देश तव वरम ददानी तव भूयो वरम ददानी एक अधिक वरदान दिया क्या है द वाक्य एक कहकर दो चीज दे रहा एक तो कह दिया अदृश्य क्या है वो तवैव नाम नाम समुदाय आज से यह अग्नि तुम्हारे नाम से हो तवैव ना अयम अग्नि भविता जैसे जो है स्वामी राम है Swami Ram Jolly Grant hospital medical college की अनुमति मिल नहीं रही मिलने रही तो उनका जय हो महाराज आप प्रधानमंत्री हो जाए आप ही के नाम से हम अस्पताल बना देंगे आप ही के नाम से हो जाएगा medical TV Narasimharao medical college तुरंत सब लाइसेंस मिल जाए सारा काम लेकिन वहाँ लेने के लिए प्रसन्न करके उनका नाम रखना पड़ा यहाँ लेना देना कुछ नहीं न लेन देन का ही भगवान अपने तरफ से यमराज जी कहते हैं आप ही अग्नि तुम्हारे नाम से सिद्ध होगा लोग कहा करेंगे इसको लोकाज अग्नि नहीं कहेंगे नाच के अग्नि कहा करेंगे नाम परिवर्तन करेंगे तो श्रृंकांश इमाम अनेक रूपाम गृहाना और ये जो माला है श्रृंका मैंने माला होता है जरूर आ और सृज धातु को लेंगे विसर्जन करने तृतीय अर्थ होता है कर्म फल को प्रदान करने वाला सकल कर्म फल रूपा इसलिए अनेक रूपा वो अनेक रूप कर्म फल का एक रूप होता नहीं एक रूप होता तो उसका क्रोध होते थे लेकिन भगवान कहते कर, गहना कर्मणो कर्म गति तो कोई ठिकाना नहीं है चार रूप है उसका रंग रूप है तो कुछ पता नहीं इसे अनेक रूपा कर्म फल गति श्रृंखला अथवा वित्तमयी धनमयी रत्नमयी श्रृंखला वित्तमयी करके नारायण वित्तमय मई तृप्याम मैं वित्तमयी जो आपने दिया है कर्म फल प्रदान होता इससे मैं तृप्त नहीं हो सकता इसलिए कैसे इमाम अनेक रूपांश काम च ग्रहण कर लो दो चीज कथम तम नचिकेत सम प्रियमाण शिशु योग्यता पश्यंत शिष्य देवता को देखते हुए प्रियमाणा प्रीति अनुभवन प्रीति का अनुभव करता हुआ उस नचिकेता के प्रति वही अमराज जी ने क्या कहा कौन है अमराज महात्मा है अक्षुद्र बुद्धि अक्षुद्र बुद्धि है क्षुद्र अधम क्रूर कृपण वाच्य को हैं क्षुद्र किसको कहा जाता है अधम आदमी को क्रूर आदमी को कृपण को अनुप को दरिद्र को वाच्य इसका लिंग होता है ऐसा मन कुछ का और एक ऐसा वह अक्षुद्र है अक्षुद्र का मतलब जो आधम नहीं है उत्तम क्रूर नहीं है अक्रूर है तो नाम से क्रूर नहीं वास्तव में अक्रूर है एक अक्रूर भी था नाम का अक्रूर था और गोपियों का असली चीज छीन के चला गया क्रूर बन तो कहते हुए इतना और कृपण नहीं है ये ब्रह्म ज्ञानी हो कृपण का कृपण मुझे कहा गया ये ब्रह्म ज्ञान के बिना मर जाता है तो है के और दरिद्र वो है जो किसी की भी योग्यता से प्रसन्न ना हो नीचा कमीना है वो अरे दूसरे को गुण को देकर खुश होना चाहिए प्रसन्न होना चाहिए और दूसरों के गुण से जो प्रसन्न नहीं होता है योग्यता के प्रसन्न नहीं होता है क्षुद्र दरिद्र और ऐसा नहीं है इसलिए अक्षुद्र बुद्धि वाला है मैं चिकित है स्वीकृत इस तरह प्रसन्न हो चुका है कोई को जो दे रहा आप जान ही रहे वरम तब चतुर्थम यह प्रीति निमित्तम अद्य इधानी यह प्रीति निमित्तम इस समय प्रीति से प्रीति निमित्त होकर प्रीति से प्रसन्नता रूपी निमित्त को लेकर के मैं तुम्हारे लिए चौथा वर को अलग एक वरदान को मैं देने जा रहा हूँ भूया पुनः पुनः पुनः ध्यान भूमिका तवैव नचिकेत उन नचिकेता के ही नामना अभिधान संज्ञा के द्वारा प्रसिद्ध भविता मया उच्च मेरे द्वारा कहे जाने पर यह अग्नि जो है आज से तुम्हारे नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा श्रृंगा मैंने शब्दवती शब्दवती उनके जो है वहां पर में तदारा समाहित अयम शारीरात्मा प्राज्ञन आत्मन हलवारूढ़ उत्सर्जनियासी उच्छ्वासी टिप्पणी में दिया है पूरा जैसे बैलगाड़ी रास्ते पे चलता हुआ तो भी यदि बजरी का रोड हो उस पर चलता हो बैलगाड़ी तो कैसे आवाज करता है एक मिनक्षण चिक का हुआ चलता है ठीक उसी पर जब ये जीवात्मा शेर से निकलने लगता है इसके अंदर में भी सारी हड्डियां टूट हर जोड़ हर चीज जब प्राण निकलने लगता है वायु निकलने लगता है विलक्षण प्रकार की चीख की आवाज जैसे बैलगाड़ी चीज की यथा अनाथ समाहित कुछ सर्जक आया सो समाहित होते हुए भी उत्सर्जन आया कुछ आवाज को उत्सर्जन करता हुआ चलता है वजन शारीर आत्मा न आत्मा उड़ा उत्सर्जन आदि इसी प्रकार से यह शारीर आत्मा यह सूक्ष्म अभिमानी होकर के जो उन्नीस तत्व होते हैं वे प्राचीन आत्मा ना उड़ा या अविद्या या ज्ञान रूपी कारण शरीर में आरूढ़ होकर के उत्सर्जन इस शरीर से निकलता हुआ दूसरा शरीर में चला जाता है ऊर्द्वासी खाने का मतलब जिस समय यह ऊर्द्वासी हो जाता है अर्थात अवस्था को प्राप्त करता है इस श्रुति में सृजित धातु का अर्थ शब्द अर्थ दिया उत्सर्जन है ना सर्ज शब्द करना यह दिया है श्रुति ने इसे यहाँ पर काम कर तो मैंने भाषकर कहते मैंने प्रमाण दिया वहाँ पर ऐसा भाषकर कह रहे हैं कि इसलिए हम भी यहाँ शब्द कर दे रहे हैं शब्द और रत्नमयी वक्षति यमराज था तो श्रृंखा वित्तमयी इत्यादि राज स्वयं यमराज कहेंगे ये जो श्रृंखला है कर्म फल रूपा जितने भी वेद शब्दमती का मतलब क्या वेदों में कहा सकल फल को एक माला कर प्रस्तुत किया सकल फल तुमको मिलेगा ऐसा नचित ज्ञाता को सकल फल दे रहा है ये नहीं कोई माला पकड़ा दिया भजन करो ऐसा अर्थ नहीं इसलिए शब्दवती अथवा दिया रत्न नहीं सर्वेश्वरी प्रदायिका ऐसा ही विलक्षण आशीर्वाद दिया जो कि जितने भी कर्म हैं दृश्य बल और अदृष्ट फल प्रदान करने वाले सगल कर्मों का फल तुमको जो है ऐश्वर्य रूप में प्राप्त रत्न अथवा चलो रूढ़ी ले लो माला रूढ़ अर्थी लेना चाहते हो ऐसा विलक्षण माला दे दिया जिसको पहन करो बैठे हो संकल्प जो करेगा सो उसको मिल दिया जो चाहे सिद्ध माला पकड़ा दिया ऐसा करते इसलिए कहते अनेक रूपा विचित्र एक रूप नहीं अनेक रूपा अर्थात विचित्र अत्यंत विचित्र ग्रहण स्वीकृत ये मैं अकुत्सिताम गति कर्ममयी अर्थ व्यापार अर्थ ले रहे हैं अकुत्सित जो गति है कर्मयी अकुत्सित गति को तुम प्राप्त करो ये अर्थ भी हो सकता है तो गति अर्थ भी होता है तो आप कुछ सिद्ध गति ये जब वर्म ही दे रहा है तब तो कोई सिद्ध गति तो देगा ऐसे कर्म का फल तुमको मिल जाए जिसे तू तो नरक चला जाए ये मैं मैं आशीर्वाद देता हूँ ऐसे कोई कहेगा ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं है अंग्रेज भी क्या बोलते विश ऑल बेस्ट क्यों बेस्ट विशेष बोल बैड विशेष क्यों नहीं बोलते नहीं वो अंग्रेज भी नहीं मानते इस बात को कि वह हम आपको नरक में कभी मिलेच्छ है मिलेच्छ है कोई शास्त्र नहीं मानता है कोई देवता भी नहीं मानता फिर भी यही कहे गुड मॉर्निंग प्यार मॉर्निंग आखिरी में हर हृदय के अंदर सनातन धर्म छिपा हुआ है मनुष्य मात्र के अंदर के मानव का मूल्य जो है वो विद्यमान है चाहे बाह्य रूपेण वह किसी चीज को संस्कृति को देवी देवता को माने न माने एक अलग चीज हृदय के अंतराल में जाओ तो सारी अच्छाइयाँ जो कही गई है महात्मा ने मूल्य रूपण कथन जो किया गया है वो तो सब क्या कौन सा इंसान है जो चाहेगा कि मुझसे आप झूठी बोलते रहो मेरे को ठग दी रहे संसार में कोई इंसान नहीं सभी ही चाहते भले झूठ खुद बोलते दूसरे को ठगते लेकिन चाहते क्या है मेरे को तो सच बोले मेरे को कोई ठगे सब ईमानदारी चाहते सब इंसान ही चाहते ये सब क्या है ये तो सनातन मुझे तो कर सत्य में वो देते सत्यम वज धर्मम चर ये तो क्या तो भले उसको शब्दावली का रूप अलग हो सकता है आस्था का स्वरूप अलग हो सकता है लेकिन सभी के अंदर एक निहित है इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अकुचित गति कर्मयी दिखा अकुचित गति ब्रह्म विज्ञान नहीं मोक्ष नहीं इसलिए कर दिया स्पष्ट करते हुए कर्ममयी कर्म अन्य कर्म विज्ञानम अनेक पर स्वीकृत करना कहने का मतलब कर्म और विज्ञान कर्म और उपासना ये दोनों एक करके मैंने तुमको दे दिया है जो कि अनेक फल अनेक फल का कारण होने के कारण से तुम इसे स्वीकार करो ये पुनर्व कर्म सुधि में वाह पुनः उस कर्म की स्थिति कर रहे हैं जो केवल कर्म नहीं लेकिन उपासना सहित प्रणाचिकेत त्रिवृत्य संधि त्रिकर्म कृत जन्म मृत्यु ब्रह्मचज्ञम् शांति प्रणाचिकेता जिसने इस नाचिकेता अग्नि को तीन बार अनुष्ठान तीन बाह्य कर्म में अगले अनुष्ठान काल में अपने भीतर जैसे बताया हमने कल उसी प्रक्रिया से इस उपासना को जो अनुष्ठान करता है वह व्यक्ति जो तीन बार ऐसे करता है त्रिवी सन्धि तीन चीजों के द्वारा तीन बार चयन करने वाला मनुष्य तीन चीजों के द्वारा त्रिवी संधि मैंने प्राप्त संधि संधान संबंधम तीन के द्वारा संबंध प्राप्त करता है वह मातृमान होता है वह पितृमान होता है वह आचार्यमान होता है जैसे वहाँ प्रदर्शन में भी आया या केवल की कोई जनक कहते हैं मेरे को अमुक ने पढ़ा के गया है तब वो कहते हैं ठीक है मातृवान पितृवान आचार्यवान निश्चित सब मातृमान पितृमान और आचार्यवान रहा है तभी तुमको सही सही उपदेश देता है ज्ञान की परिपक्वता केवल आचार्य से नहीं होता ज्ञान की वास्तविक रूप आपके अंदर तभी विद्या फलीभूत होकर प्रकट हो सकती है जब आप मातृमान हो आचार्य माँ से तो पैदा हो और कहाँ से पैदा हुए तो मातृमान है ही नहीं सभी औरत से पैदा हुए हैं माँ से पैदा हुए औरत से तो सभी पैदा हो स्त्री से उत्पन्न सभी हैं सब के सब स्त्री है लेकिन मातृमान होना तो कोई नहीं क्योंकि मातृत्व धर्म का परिपालन करना बहुत कठिन है मातृत्व धर्म के लिए पहले पातिवरात्र धर्म आता है पातिव्रात धर्म के पहले कन्या धर्म आता है कन्या धर्म से पहले गौरी धर्म आता है इन सकल धर्मों को समय प्रकार से पालन करती हुई जब पुष्प काल में संस्कार युक्त होकर के रजकुंडली कुंडली का द्वारा उत्पन्न सगल दोषों को अनुष्ठान कर निवर्तन करता हुआ जो मातृ बनती है उस माता से पैदा हुआ ही मातृ माता और आज तो रजकुंडली तो बनती ही नहीं है जब पहली बार रजो दर्शन होता है लड़की का प्रथम बात तो होता है उस समय की कुंडली बनती है ज्योतिषा और उसमें जो दोष दिखाई देते हैं वह उस माता के गर्भ के दोषों को प्रकट करता है उन दोषों को निवारण किए बिना यदि कोई गर्भ धारण कर लेती है वो माता नहीं कही जाती इसलिए यहाँ पर कहते हैं मातृमान सभी नहीं होते हैं कोई कोई होता सभी होंगे स्त्री से उत्पन्न सभी हैं मातृत्व धर्म से संपन्न स्त्री से उत्पन्न होने वाला ही मातृ इसी प्रकार से पितृत्व में पितृमान होना सभी तो पुरुष से पैदा हुए हैं हिजड़ा से पैदा हुआ नहीं लेकिन पितृमान होना कठिन पाउन स्नेह भवन न तो पिता इसे यहाँ पर कहेंगे त्रिवी मने माता पिता और आचार्य के द्वारा जिसने तत्व का अनुसंधान किया हुआ है उसी के नृत्या वही कर्म और उपासना विशिष्ट होकर अंतगण छुट्टी द्वारा ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है ये यहाँ पर आकर के भी ब्रह्म ज्ञान और कर्म उपासना कर्म उपासना विशिष्ट कर्म कांड किया व्यक्ति यदि निष्काम भाव से करते हैं तो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है इसके सेतु कृतियां बीच में कहा जा रहा है इसलिए कहते हैं त्रिवी ही संधिम कर्म और कर्म कृत भी अर्थात विज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान तीनों कर्मों को किया हुआ है तो कर्म अनुष्ठान किया लेकिन केवल कर्मानुष्ठान नहीं किया ज्ञान सही कर्मानुष्ठान विज्ञान सहित कर्मानुष्ठान भी इधर उधर से सुन के नहीं गया गुरु मुख से अध्ययन अध्ययन पूर्वक विज्ञान विशिष्ट कर्मानुष्ठान को करने का नाम कर्म कर ऐसा व्यक्ति वह जन्म और मृत्यु को तर जाता है क्यों ब्रह्म देव मृत्यु क्योंकि जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुए उस ज्ञानवान को तो जान लेता है ब्रह्म से जन्य ब्रह्म जहा ब्रह्म जस्ट असौ ज्ञी ब्रह्म जिज्ञा जो ब्रह्म से सर्वोत्पन्न है सर्वप्रथम उत्पन्न है और ज्ञानवान भी है इतना ही नहीं तेजस्वान भी है एवं और स्तुति के योग्य नित्यम उस देव को शास्त्रों से सम्य प्रज्ञा से जानकर तथा विचय आत्मभावे ने उसको उपासना करके अंग उपासना करके इमाम शांति वह इस आत्यंतिक शांति अत्यंतम शांति वह आत्यंतिक शांति को प्राप्त करता है विचार है विस्तार उसमें देखेंगे देखिए त्रिनाच के कहा पाठ पाठो लेकिन उसको हमें छेड़ना नहीं है होना चाहिए ही कृत्वा क्योंकि त्रि में भी सूच प्रत्यय आ गया ना क्योंकि द्वितीय चतुर्ग्रह सूच सूच तो होता ही है वो भी क्रिया की अभ्यावृत्ति का नाम ही आ रहा है और वे कृत्व सूच भी समान अर्थ में हो गया अब एक ही अर्थ में दो प्रत्यय एक ही प्रकृति से नहीं किया गया ऐसा नहीं त्रिसो सुच हो गया फिर कृत सुच उसी से करके है ऐसा बनाना उचित नहीं है इसे यहाँ पर होना चाहिए तीन बार करके टिप्पण विस्तार से बता देंगे नाचिकेत अग्नि चित्तो ए नाचिकेत के अग्नि को चयन किया गया है जिससे उस व्यक्ति को हम कहेंगे प्रणाचिकेत के विज्ञान अनुष्ठान वाला तद विज्ञान वाला है तद अध्ययन वाला है और तद अनुष्ठान वाला है इसको त्रिनाचिकेत है अर्थात नाचकेत अग्नि का उसका अध्ययन किया हुआ है नाच के दाग्नि को उपा, उपासना किया हुआ है और नाच के दाग्नि का ही अनुष्ठान किया मातृ पितृ मातृपित्र आचार्य रेत प्राप्य संधि संधानम संबंधम मात्रा अनुशासन यथावत प्राप्ति त्रिवी माता पिता और आचार्यों के द्वारा उसने संधि को प्राप्त संधान को प्राप्त क्या संधान को प्राप्त किया संबंध को प्राप्त किस चीज का संबंध मैंने मात्रादि के द्वारा यथावत अनुशासन को समय शासन वही दे सकती ना शुरू से यदि माता ने चोरी सिखा दिया तो फिर सारा गांव ही खड़े चोर बन जाए जैसा वो अनुशासन देती है उसी के आधार पर बालक का सब संस्कार निर्भर था देवी माँ कहा मिले सबको शुरू से ही वेदांत की शिक्षा देना चालू कर दिया जगत विख्यात की शिक्षा कठिन है ना ऐसे मिलना माता झूठ बोलना तो ठीक है घर के अंदर पिताजी तो एक बार तो जाओ बोलते बेटा नहीं साफ साफ सिखा दिया बेटे बेटे को पहले सिखा जा बीड़ी लिया मेरे लिए और तुम्हारे लिए बीड़ी ला रहे तो कल वो भी पिएगा ये नहीं सोच रहे सारी गलत आदत स्वयं मात्र माता पिता डाले तो उनको माता पिता कैसे दिखाया जाए छात्र दृष्टिकोण से ऐसे संस्कार देने वाले को माता पिता नहीं कहा इसलिए आजकल की भाषा में ठीक ही बोलते हैं लोग मम्मी और डैडी है मम्मी और पापा ये माता पिता नहीं शब्द के योग्य ही नहीं रहा तो इसलिए कहा था कि देखो मात्र आदि अनुशासन यथावत प्राप्ति तद ही क्योंकि टिप्पण का नीचे करे त्रिपद द्वंद्व इत्यादि ज्ञान कृत द्वंद्व इतना द्वंद्व पदे और जो ये कि उपनिषद प्रमाण है वहां का प्रदानिक उपनिषद ये प्रमाण तद ही प्रामाण्य कारण श्रुत्यंतरा अवगम्य दे तद ही प्रामाण्य कारण ऐसा जो ज्ञान होता है इस प्रकार से अनुशासन से प्राप्त ज्ञान तो वही प्रामाण्यता का साधन है अस्थिर सर्टिफाइड है पलक जाता है इस प्रकार से प्राप्त विद्या का श्रुत्यंतरागमत यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं श्रुत से यह बात स्पष्ट है देहाद्वत कुमार सिद्धन को कहते ही और शरद कुमार विनारद जी को कहते हैं यथा मातृमान पितृमान इत्यादि है श्रुत्यंतर कही वेद स्मृति शिष्ट अथवा तीन ले लो फिर भी मैंने वेद स्मृति और शिष्टों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुमान आगम और जो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम त्रिविका अनिको इनके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान तेभ्यो ही विशुद्धि प्रत्यक्षा क्योंकि ऐसे साधनों से प्राप्त ज्ञान में ही विशुद्धि स्पष्ट अनुभव होता है शुद्धि प्रत्यक्ष हाँ, विशुद्धि मने धर्माद्यवगति आनंदगिरी में कहते हैं विशुद्धि का मतलब धर्मादि की अवगति स्पष्ट होती है श्रुति स्मृति और शिष्टों के द्वारा विकर्म वृदो इच्छा अध्ययन दाराम करता इच्छा अध्ययन और दान अनिष्ठापूर्त दत्त कर्मों को करने वाला सर्वदेव ग्राम जन्म मृत्यु जन्म और मृत्यु को तर जाता है किंच ब्रह्मचज्ञम ब्रह्मचज्ञ पूर्वार्ध में इसी जन्म मृत्यु तक या जन्म मृत्यु से मतलब ये समझना है मृत्यु से दुख इस दुख से दूर हो जाएगा और वो स्वर्गलोक को प्राप्त करवा सुखी यहाँ मोक्ष नहीं है जन्म मृत्यु को तर गया मुक्त हो गया कर्म से कोई मुक्त होता नहीं तो कर्म की स्थिति है यहाँ इसलिए कर्म की मुक्ति कर्म से मुक्ति तो होती नहीं इसलिए जन्म मुक्ति मृत्यु से तर जाने का मतलब यहाँ यहाँ जो होने वाला जो जन्म से जनित जो दुख जन्म और जन्म जनित जो दुख इंदु कौन से निवृत्त हो जाता है जैसे तो पहले वर्णन किया है स्वर्ग लोक में जो है त्रिविध प्रकार का ताप अत्यंत न्यून होने से न के बराबर होता है अगण्य होकर के वहां सुख प्रधान कहा इसलिए कहते हैं किंच अब उपासना का जो है महिमा गान उपासना का उपासना की स्तुति ब्रह्म यज्ञम ब्रह्मणो हिरण्य गर्वात जादो ब्रह्म जहा ब्रह्म शब्द यहाँ हिरण्य लेना उससे जन्य कौन है ब्रह्मज यानी विराट ब्रह्मज असो जयश्च तो ब्रह्म जी नहीं है साथ साथ ज्ञानवान भी इसलिए उसको हम क्या कहते हैं ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञ ही असौ कहने का मतलब वह सर्वज्ञ होता है अंग एवं द्योतनाथ उस देव को अर्थ क्यों देव है वो द्योतनाथ ज्ञानादि गुणवंतम ज्ञानादि गुण वाला होने से वह सकल विषयों का प्रकाशन करने का सामर्थ्य रहने से इसका नाम देव भी है ऐसे को इड्यम मिलता वह स्तुत्य ऐसे जान कर गृहित शास्त्र को अनेक शास्त्रों से सम्यक प्रकार से ग्रहण किया निचार्य दृष्टाचार आत्मभाव और इसको अपने आत्मभाव से गीतार्जम अहमेव ऐसा निश्चय कर उपासना टीकाकार देखो बहुत सुंदर कहते हैं यहाँ दृष्टाच अच्छा भावे ने केवल टीका सप्त सप्त नाम संख्या बाहर में गिनटों की संख्या कितनी है सात सौ बीस संवत्सर से अहोरात्राणी जताओ संख्या का और संवत्सर के अंदर में भी अहोरात्र की संख्या भी सात सौ बीस ही हुआ करता है संख्या सामान्य तय इष्ट का स्थान यही चितो अग्नि अहमेव यदि आत्मभाव इसलिए तय इष्ट का स्थान ही अहोरात्र कृत अग्निहोत्र आदि भी चितो आया अग्नि अहमेव चित व अग्नि और कोई नहीं तो मही अजो मही ब्रह्मज्ञ विराट रूप का अवय स्वयं अवयवी के साथ अभेद करता हुआ स्वयं विराट रूपता का अभेद उपासना हमेव स्वयं विराट रूप इस प्रकार के जो उपासना जो करना है उसको यहाँ पर कहा आत्मभावेन दृष्ट इमाम सब प्रत्यक्षाम शांति उपरतिम अत्यंत यह जो स्वबुद्धि का प्रत्यक्ष स्वबुद्धि का प्रत्यक्ष कैसे होगा विराट बुद्धि को जो प्रत्यक्ष होता है समष्टि बुद्धि को जो प्रत्यक्ष होता है वैष्ट बुद्धि को तो प्रत्यक्ष हो फिर आपने कैसे कह दिया स्वबुद्धि प्रत्यक्ष तथा तो उपासना मेरा अभेद उपासना किया अंग्रह उपासना है तो मैं विराट के सुधा अभिन्न होकर जो उपासना करता हूँ तो मैं विराट रूप धारण करके विराट स्वरूपेण मैं भी सब कुछ वृष्टि समष्टि के सुधा अभिन्न होकर समष्टि के माध्यम से वृष्टि भी अतएव स्वबुद्धि प्रतीक्षा भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं इमाम का स्वबुद्धि प्रतीक्षा तो ये नहीं तो मंत्र में इदम शब्द इदम संकट किया ना स्वबुद्धि प्रत्यक्ष को इदम प्रयोग होता है इमाम शांति का है मंत्र में इसलिए इमाम का निशुद्ध प्रत्यक्षाम शांति ये कैसा है वो वास्तव में ऊपर तो शांति है क्या उपरथिम दौड़ भाग बंद हो जाए अभी फालतू का दौड़ लगा हुआ है ना तो अपने आप जब व्यष्टि से उठ करके समष्टि से अभिन्न होकर समष्टि दृष्टि से जब सृष्टि को समझने लग जाते हैं तब आप सृष्टि का भी जब भागना बंद कर समझ लेंगे कि कुछ नहीं है बेकार लपड़े में जा रहे तो ये वो दृष्टि जब आ जाती है तब आपको इसकी मिथ्या तो समझने में कुछ नहीं अभी जितना भी समझाओ मिथ्या दृष्टि नहीं व्यस्टि बुद्धि में जगत की मिथ्यात्व क्या किसी भी चीज की मिथ्यात्व पकड़ में नहीं आती है तो स्वप्न और भ्रांति के विषय में छोड़ प्रातिभाषिक विषयों के अलावा व्यावहारिक विषयों में भी भ्रांत मन मिथ्या तो ग्रहण करना व्यस्टि बुद्धि के बस की बात नहीं ग्रहण कर ही नहीं इसी उपासनाओं के द्वारा कहा जाता है कि आप अपने सृष्टि से समृष्टि स्थिति में आइए तब आपको पता चलेगा इस सृष्टि का असली रहस्य तत्व तो सृष्टि में विद्यमान सत्यत्व को काटना असंभव है चाहे जितना भी करो जब ताप आटा पट्टा करते रहो कुछ नहीं इन सब से केवल आपको मरने के बाद बहुत बढ़िया स्वर्ग मिलेगा जितना भी तप किया यदि कोई यह लोक की विषय को लेकर आपने जब तक तब किया है तो इसी जन्म में वो फल भी मिल जाएगा सारी तपस्या का फल उसी में चला जाएगा और नहीं तो स्वर्ग आदि अवश्य मिलेगा लेकिन जगत विद्या तो पूरा ब्रह्म विद्या की योग्यता इस बुद्धि के अंदर नहीं आ सकती इसलिए बार बार श्रुतियों में उपनिषदों में उपासना का बहुत महत्व है जब तक उपासना नहीं करोगे तब तक इस बुद्धि के अंदर वह क्षमता नहीं आ सकती है जिससे ब्रह्म विद्या का साथ बल्कि यह ब्रह्म विद्या आपके लिए इतना खतरनाक बन जाएगा आपको अच्छा भला साधक का सीधा साधा वो तो भी बन जाए मैं बहुत बड़ा प्रिंस अहंकार बन विद्वत्ता का अहंकार आ जाए इसीलिए ये उपासना द्वारा ही उसको प्राप्त करना उपासना की स्तुति का मुख्य कारण यही है उसके बिना से प्राप्त नहीं हो सकती शांति से इसलिए सुपरतिम अत्यंतम मेति अतिशयन प्राप्त अतिशयन प्राप्त वैराजम बलम ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठान प्राप्त स्पष्ट स्पष्ट ही ज्ञान कर्म ज्ञान मैंने उपासना उपासना और कर्म के समुच्चय पूर्वक अनुष्ठान करने से व्यक्ति को वैराजम पदम प्राप्त होती विराट रूपता को मन की व्यष्टि बुद्धि समष्टि बुद्धि से साथ हो जाता है वह क्षमता इस व्यष्टि शरीर में रहते भी हो सकता है जो उस ब्रह्मा जी में जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि को समझ रहे हैं देख रहे हैं सब कर रहे हैं सब कुछ व्यवहार उसी प्रकार से इस छोटा सा भौतिक शरीर में रहते हुए भी आप सब कुछ देख सकते हैं समझ सकते हैं जान सकते हैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हो सकते हैं ये इस उपासना का फल है और स्तुति ताकि व्यक्ति उपासना करें और इसको समझे आगे कहते हैं देखिए नाचिकेत प्रेम एवं विद्वागुते नाचिकेतम समृद्ध पाषाण पुरत प्रणोद्य शोकातिको मोदते स्वर्ग लोके अब पृथक पृथक स्तुति कर दिया ना पहले गुरु मंत्र में क्या किया गुरुवार से केवल कर्म उत्तरार्थ से केवल उपासना की स्तुति कर करेंगे और अब मिला हुआ इधानी अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसंहर प्रकरण हम करने क्या जा रहे हैं अग्नि की विज्ञान उपासना और चयन माने कर्म दोनों के फल का उपसंहार करते हुए प्रकरण को भी उपसंहार करने जा रहे हैं नाचिकेत जो त्रिनाच के विद्वान है तीन बार इस अग्नि का चयन करके अनुष्ठान किया हुआ व्यक्ति है वह व्यक्ति एक तीन चीज को जाना है पांच तीन चीज ये आष्ट का ये आवती रवा यथा ईट कौन है ईट के स्वरूप क्या है ईट कितने हैं और वो किस प्रकार से चलते इन तीनों बातों को जो जानता है एवं विद्वान चिन्हते उसको जान करेगी जो इस प्रकार का विद्वान नाच के कम चिन्हते नाच के करने का कर्म का भी अनुष्ठान जानता है इसलिए उपासना तो करता है लेकिन केवल उपासना भी नहीं करेगा कर्म का अनुष्ठान कर्म उपासना समुचित कर्म कर्म समुचित स मृत्यु पाषाण पूर्वक मृत्यु का जो पाश है उसको पहले मरने से पहले ही मार देता है मृत्यु का पास क्या है राग द्वेश ज्ञान वगैरह इन सारी चीजों को पुराता मैंने शरीर पाता पूर्व में वह नष्ट कर बहाय दूर शोक आदि को बोलते स्वर्ग शोक आदि का शोक से मानस यहाँ मोहादि को नहीं बोल रहे हैं क्या मानस दुखों का अतिक्रमण करता है और बस्तर लोग भी बड़ा मजे में रहते बड़ा मजे वो सुख आनंद आनंद अनुभव विराट रूपता को प्राप्त करके स्वरलोक में विराजमान रहो ठीक है प्रणाचकेता प्रणाचकेता उपाय करते हैं कि भाई स्वर्गाग्नि प्रकरण प्रकरण सबसे से टिप्पणी स्वर्गाग्नि प्रणाम कर्मोपात समुचित प्रकरण में दिया प्रणाज पूर्व कृत व्याख्यान प्रणाज तीन बार जिस के अग्नि का उपासना विशिष्ट कर्म का अनुष्ठान किया है भेद मैंने यथोक्तम कौन तीन कहा हुआ याष्ट का यावनिर्वाह यथा विधि ये तक इन्हीं तीन को अवगम्य जान कर यश्च एवं आत्मरूपेण अग्नि विद्वान सिंह जो इस प्रकार के आत्मरूप से उस विराट रूपी अग्नि जानने वाला विद्वान चरित्र में निर्वाह बाह्य कर्म भी अनुष्ठान कर रहा है और अपने आप को विराट रूपेण उपासना पूर्वक उस अग्नि का चयन के साथ साथ उपासना भी कर लेता है अग्नि में बाह्य कर्म तलवला में अंदर विराट रूपता दूसरे में जो है अग्नि सबसे बाह्य कर्म सा मृत्यु पाशा अधर्म ज्ञान राग द्वेषाद लक्षण मृत्यु का पाश क्या है अधर्म अज्ञान राग द्वेष इत्यादि रूप इन मृत्यु के पाशों को पूर्वता अग्रता पूर्वमेव अस्मात् पूर्व शरीर पाता पूर्वमेव शरीर पात से पूर्व में ही वह इन सकल दोषों से रहित होकर के केवल पुण्य पुंज ही रहेगा उसके साथ हर जहाँ पुण्य पुंज रहेगा सर्वता பராத்யாபகாய சிவகாரிக மாரதி பெருவர்ஜனை इन दोषों को दूर करके मानस दुखों से रहित होकर मोदते स्वर्ग लोके वैराजी विराट प्रतिपत्तिया विराज पदे स्वर्गलोक यहाँ विराट रूप पद को प्राप्त कर क्योंकि विराट आत्म स्वरूप से उसने पहले उपासना भी किया है जिसको जो जैसा उपासना करता है उसको वैसे ही वह अंत में प्राप्त लेखा मात्र पतिते सदैव भजा में भगवान भी कहते हैं जो जिस प्रकार की उसकी उपासना करे अंत वो उसी रूप को प्राप्त धीरे धीरे तांत्रिक मांत्रिक सब भूत प्रेत बन जाती इसीलिए बनता है क्यों भूतों की उपासना कर रहे हैं तो अंदर भूत ही बनेंगे और क्या हाँ जो जिस भाव को प्राप्त करना है उसी भाव में चला जाएगा हम क्या करें द्वितीय यही है वह अग्नि स्वर्ग अग्नि जो स्वर्ग का साधन बोलता अग्नि विराट यही अग्नि प्रथम जो तुमने स्वर्ग का साधन रूपेण पहला वर्ग के दूसरे वर्ग के द्वारा माध्यम से वर्ण किया था एतम अग्निम जनासह तवैव प्रवक्षण दोबारा उस बात को पुष्ट कर रहे हैं इस अग्नि को सारी दुनिया जनाथ असुच प्रत्यान छांदस है सर्वे सभी लोग आज से तवैव प्रवचन दी तुम्हारे तो ही नाम से कहेंगे अब तृतीय वरम ये नचिकेतो मुनीश्वर ये नचिकेता अब तुम तीसरे वर का वर्ण करो एश दे तुभ्यम अग्नि मैंने तुभ्याम तुम्हारे लिए मैंने कह दिया क्या कहा गया तद हे नचिकेता स्वर्ग यम अग्निम वरम अवर्णिता प्रार्थवान जिसको स्वर्ग साधन भूत अग्नि को वर रूपेण तुमने प्रार्थना किया था वह कौशा वरा द्वितीय न वरेण अग्निवर के द्वारा मांगा था सो अग्निर्वरो उस अग्नि संबंधी वर को मैंने तुमने दे दिया है ऐसा उपसंहार एक अग्नि तवैव प्रवक्ष ये दोबारा कहने क्या जरूरत थी दोबारा कहने का पीछे जो रहस्य वो समझना जरूरी है यहाँ क्या क्योंकि नहीं तो कहेंगे भाई तो पुनरुक्ति दोष आ जाएगा स्मृति ऐसे क्यों बोलेगी या यमराज दोबारा क्यों कहेंगे तो कहने का इसलिए जरूरत पड़ गया कि भाई भले तुम उस माला को स्वीकार करो न करो लेकिन दुनिया तो आधे इस अग्नि को तेरे नाम से पुकार उसको तुम इनकार नहीं कर संकेत कर रहे हैं इसका मतलब नचिकेता ने उस कर्ममयी वित्तमयी रत्नमयी शब्दवती उस माला को स्वीकार नहीं किया और संकेत कर दिया होगा मेरे नाम का ठप्पा मारने कोई जरूरत नहीं लिखने वाले दीवार में अपने भले नाम लिखे लेकिन मेरा नाम किसी अग्नि के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है लिखते है ना दान देने वाला पक्ष पर नाम लिखवाता हम अपने दान मेरा नाम दान नहीं उदाहरण जो देंगे भी नहीं नचिकेता ने वो नाम भी नहीं चाह उस अग्नि के इसलिए एवं कार्य के अवधारण कर देता वही वह तुम चाहो न चाहो ये दुनिया अपना पूर्ण होने के लिए कि तुम्हारी ही कृपा से उपासना उनको मिली है तुम्हारी ही कृपा से दुनिया पर उपासना मिल गई ना विराट उपासना अग्नि रूपे न <clears throat> इसीलिए दुनिया ही अपना धन्यवाद अर्पण करने के लिए समझो चाहे ऋण होने के दृष्टिकोण से समझो तुम्हारे नाम जोड़े गई और कहेंगे नाचिकेता हमने क्या उपासना किया तो कहेंगे नाचिकेता अग्नि की उपासना कौन से अग्नि का चयन किया नाचिकेता अग्नि का चयन लोग स्वयं कहेंगे ऐसे कहा कर तुम्हारे प्रति उन्होंने अपने आप को ऋण कर लेते हैं तुम चाहो न चाहो तो कोई नहीं होता जनासत प्रवक्षण मैं कह रहा हूँ ये बात नहीं लोग ये बात या संकेत करके कह दिया और आगे कह दिया किसी बस किंच ये तम अग्रिम नाम नामना प्रवक्षित जनासो मैंने जना शेष अवर दत्तो मया चतुर्थ प्रसन्न होकर के यह जो मेरे द्वारा दिया हुआ वर है चौथा वर है ऐसा